चेला बनाने की विधि सूचना और अधिकांश ये जो प्रचारक हैं उनके मन में चेला बनाने की इच्छा ही है हाँ। दृष्टि वाले दृष्टि वाले क्रिया को अधिक सूक्ष्म दृष्टि वाले गुण को और उससे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि वाले समाज स्थिति को देखते हैं समाधि स्थिति को देखते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ से देखते हैं तो पूज्य श्री कृपया बताएं कि एक तत्वज्ञ आत्मदर्शी महापुरुष कहाँ बैठता है और क्या देखता है और जब तक वहां खुद नहीं बैठेंगे तब तक दूसरे के बताने से मालूम नहीं पड़ेगा हम बता दें कि ये जो आसमान में दिखते हैं इन बादलों के ऊपर और ये बादलों के दस कट्ठा दस कट्ठा ऊपर और ब्रह्मानंद रहता है कुछ समझ में थोड़ी आ रही एक राधा स्वामी दयाल थे उनके पास हम लोग गए थे तो उनसे चर्चा चली ब्रह्म ज्ञान की तब उन्होंने बताया कि आसमान से जो आसमान है खत्म होता है इससे पचास करोड़ योजन ऊपर और राधा स्वामी का दुर्भाव तो सुदर्शन जी थे इन्होंने पूछ लिया तो राज भूमिका भी होगा तो कभी पचास करोड़ योजन नीचे जाता होगा और कभी पचास करोड़ योजन ऊपर जाता होगा क्योंकि पृथ्वी घूमती है नीचे ऊपर जाती है तो आपका दुर्धाम भी नहीं जाता होगा बेचारे चुप हो गए ये वैदिक संप्रदायों का हाल बिल्कुल यही है तो अवैधिक अवैधिक संप्रदायों में कोई पथ नहीं है तो ठीक रास्ते से नहीं चलते हैं कभी इधर कभी उधर कभी ये कभी वो ठीक शुद्ध रास्ता से चले तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति तो हुई हवाई है आपके श्रीमुख से सुना है कि भजन अंतर्मुख पर्यवसायी होना चाहिए कृपया बताएं उस भजन का क्या स्वरूप है पहले आप बाहर देखते हैं दुनिया को जैसे शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध है ऐसे आंख बंद करके भीतर देखिए और फिर वहां से भी मन को बंद करके और भीतर देखिए और फिर ऐसा देखिए कि आपके सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं आप ही आप दिख असल में अपने सिवाय दूसरा जब कोई जब तक दिखता है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है देखना है अपने को और हम लोग देखते हैं दूसरों को स्त्री को देखते हैं पुत्र को देखते हैं भल को देखते हैं इज्जत को देखते हैं बाहरी चीजों को देखते हैं हमें देखना चाहिए अपने में भीतर से भीतर भीतर से भीतर भीतर से भीतर और हम देखने लगते हैं बाहर तो अंतर्मुखता का अर्थ आंख चाहे बंद हो चाहे खुली हो भीतर देखना ही चुप हो जाना भी परमात्मा को देखना है परमात्मा को देखने के लिए तो दुनिया का कुछ न दिखे किताब ले लिया और पाठ करने लग गए कभी जोर से कभी धीरे से कभी ये है कि न लगने से लगना अच्छा धीरे धीरे लगे में रास्ता खुल जाएगा प्रतिष्ठा का पाठ करो लगातार करो अविच्छिन्न रोज रोज दस पाठ बीस पाठ रोज कर दिया करो देखो धीरे धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और उसका मजा भी आने लगेगा और यदि सदगुरु से समझ के पढ़ते हैं तब तो तब तो घोड़े के रिकाब में गांव और तब तो गया बहुत सुगम बहुत सरल है बहुत आसान भगवान का भगवान का नाम भी लेते चलो लेते चलो लेते चलो भीतर घुसते चलो भीतर प्रवेश करो ये साधना है और बाहर जाओ ये तो साधना है सूरत में एक ने कहा कि एक हमारे भगत अभी अमेरिका से आए हैं तो पहले अमुक स्वामी जी को अपने घर ले गए थे ले जाके दस हजार रुपया उन्होंने भेंट किया आप भी उनके घर में होते हुए सुनिए तो आपको भी भेंट करेंगे मैंने कहा भाई वैसे तो मैं चला भी जाता तुम कह तुम कहते भगत को दर्शन देते चलिए तुम तुम्हारे भगत के घर चले जाते अब रुपया लेने के नाम पर तुम्हारे भगत के घर में क्या जाए वो है हमारे भगत है अच्छे हैं आपके बात हैं लेकिन जहाँ हम लोग संसारी बाहरी स्वार्थ क्या सुंदर है कि एक बार हमारे मुंह से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम मेरा ये ये सब साधनों का साधन है और सब गुण इसी में से प्रकट होते हैं भगवान की कृपा इसी में से निकलती है यह गुण साधन पे नहीं हुई भगवान की कृपा से ही ये सारे गुण प्रकट होते हैं से बोलो एकांत में बोलो जोर जोर से बोलो रास्ता में चलते बोलो कोई कहे क्या करते हो रास्ते में ढोंग करते हो तो भाई क्या करें हमारी आदत बिगड़ गई है अपनी बिगड़ी हुई आदत को मान लो और भगवान का नाम लेते चलो कई स्त्रियां जब दान देते चलेंगे तो दूसरी स्त्री कहेगी तो क्या ढोंग करती है हाँ, तो उसको सह ले कोई ढोंग कहे तो ढोंग सह लो खूब प्रेम से भगवान का नाम जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना आप लोगों ने खाया होगा कभी के जैसे रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला मुंह में पानी आता जाए और रसगुल्ला रसगुल्ला करते जाए वैसे देखो आपको बाजार से रसगुल्ला खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप ही रसगुल्ले का आनंद आ जाए व्यवहार के छोटे छोटे बातों पर जो सावधान नहीं है वो परमार्थ के बड़े बड़े बातों पर सावधानी रखेगा इसमें क्या विश्वास है पूज्य श्री इसके थोड़ा प्रकाश डालो इस पर प्रकाश यही है कि पाँव भी रखे तो वो कहीं चीटी पर तो नहीं पड़ रहा है इसका ध्यान रख के चलना चाहिए मुंह पर कहीं मच्छर बैठने जाए और पट्ट से मार दिया तो असावधानी असावधानी को प्रमाद बोलते हैं संस्कृत में ये प्रमाद जो है प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीण आप प्रमाद को महत्व नहीं देते हैं ये मौत को बुला रहे हैं खूब मौज से आनंद से आनंद लेते हुए भगवान का नाम लेते हुए श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम का नाम सबसे बड़ी वस्तु है वेदांत का विचार तो कहीं एकांत में जानकार के पास बैठकर और उसके बारे में जो प्रश्न हो जो जिज्ञासा हो वो करने चाहिए और जब तक समाधान न हो तब तक करना चाहिए जब उसका समाधान हो जाए तब समझना चाहिए कि हमारा बिल्कुल तो ठीक हो गया कल एक सज्जन आया तो उन्होंने क्या प्रश्न किया कि महाराज महाराज प्रश्न प्रश्न ये था कि हम देखते हैं कि महात्मा लोगों के शरीर में रोग ज्यादा होता है किसी को कैंसर हो गया रामकृष्ण मिश्र परमहंस को रमन महर्षि और दूसरे महात्माओं को किसी को कुछ हो गया किसी को कुछ हो गया तो महात्मा लोग रोगी ज्यादा देखने में आते हैं तो ये भगवान अपने भक्तों को इतना रोग क्यों देता है उसको तो चाहिए कि अपने महात्माओं को बड़े प्रेम से रखते भजन करते हैं और तो मैंने उसको बताया कि जैसे दो लड़के लड़ रहे हों और उसमें एक अपना हो और एक दूसरे का तो हम पहले अपने लड़के को डांटेंगे तो तुम उससे लड़ने के लिए क्यों लड़े जो दो स्त्रियां आपस में लड़ने लगेंगी तो पहले हम अपनी बहन अपनी बेटी अपनी पत्नी को डांटेंगे कि तुम उनसे लड़ने को क्यों गए तो भगवान भी उन्हीं को तकलीफ देते हैं जो उनके अपने होते हैं अपने अपने घर का पांच रुपया उठा के हम चाहे किसकी को दे दें दूसरे के घर का तो उठा के नहीं दे सकते ना इसलिए हमें बड़े प्रेम से भगवान का एक जो विधान है जब आवे और समझना चाहिए वो हो भगवान ने हमको समझ दिया हमको पहचान लिया हम भगवान के बेटे हैं ना हम भगवान के भगत हैं ना इसलिए देखो ये अच्छी अच्छी बात औरों को बांटते हैं और साधारण बातें हम लोगों को देते हैं तो आदमी को बहुत खुश होना चाहिए हो हाँ, इस रंग के रोगी बख्श ले सब तीनों लोग भय अंधेरों इसका क्या अभिप्राय है क्योंकि इतने विशाल सूर्य को नन्हे से हनुमान जी कैसे बक्से में ले लिया बकस में नहीं दो Thank <laughs> वो तो आपने कांड में पढ़ा होगा सोलह योजन मुक्त तो बढ़ाते ही जाते थे हनुमान जी कोई मनुष्य नहीं थे पानी नहीं थे देवता और जितना जितना उसका मन बढ़ता था उतना उतना चढ़ाते अब आप उसको अब आप उसको 进入大连 प्रकट कर सकता है उनके लिए कोई छोटी बड़ी मूर्ति का सदुपयोग का तो कोई नहीं है और के सारे ग्राम निकल जाया करते नल नहीं आप ही नुकसान में रहेंगे विश्वास नहीं करेंगे तो आप ही नुकसान में रहेंगे रा, श्री राम का नाम लेने पर तथा साक्षात दर्शन करने पर भी चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी का दुख दूर नहीं हुआ तथा मोक्ष भी नहीं हुआ लंका में जब आए तब भी श्री राम जी ने दशरथ जी को ज्ञान दिया अभी तब भी श्री राम प्रणाम करते थे अब भी दशरथ जी प्रणाम करने लगे कौन सा ऐसा ज्ञान प्रदान किए कृपया स्पष्ट करने की कृपा करे शंकर जी का जो स्वरूप है तो संहार के समय तीनों लोगों को निगल जाने वाला है तो into the considerable role शंकर जी की शक्ति संहार की शक्ति है और वो तीनों लोग को निगल सकते हैं अब आप बताओ अभी दस पंद्रह वर्ष पहले की बात है क्या एक अणु में एक परमाणु में इतनी शक्ति मानी जाती थी कि वो खुले कर दे आज तो भगवान आज तो अणु परमाणु में इतनी शक्ति आ गई है कि वो पिंडों को ब्रह्मांडों को तोड़ सकते हैं यदि उन्होंने एक छोटा सा ब्रह्मांड तोड़ दिया तो ब्रह्मांड के सूर्य को पकड़ लिया तो कौन सी बड़ी बात है इसलिए आप उसी दृष्टिकोण से उनको नापिए जिस दृष्टिकोण से उनकी कथा कही हुई है यदि आप उनमें सूझ को निगलने की शक्ति नहीं मानते यदि आप ब्रह्मांड को न करने की शक्ति नहीं मानते तो गुरु की कथा को ही क्यों मानते हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांड उठाओ जो है जानवान को हमसे साफ साफ बताओ कि हम कौन कौन सा काम हनुमान जी श्री रामचंद्र भगवान का करके आ हैं तो इसका साफ अर्थ है ना कि एक भौतिक परमाणु में जब इतनी शक्ति होती है जो आजकल रासायनिक ढंग से बनाए जाते हैं पैदा किए जाते हैं तो इतनी बड़ी शक्ति श्री हनुमान जी में हो इसमें आश्चर्य है दशरथ जी को दशरथ जी के मन में पहले ज्ञान की वासना नहीं थी उत्तर की वासना तो भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसकी वासना पूरी जब उसकी वासना पूरी हो जाती है तब आगे का काम करते हैं दशरथ जी की वासना थी कि हमारे पुत्र राम राजगद्दी पर बैठे अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे अब यदि वो वासना उनकी पूरी न होती तो यही होता ना कि भगवान किसी की कोई वासना पूरी नहीं कर सकते तो वो छोटी से छोटी वासना भी पूरी कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी वासना भी पूरी कर सकते हैं आपने शास्त्रों का इतना अध्ययन किया होगा ये बात मैं नहीं कह सकता परंतु भगवान की स्वतः मछलियों के मन में आता है कि हम इनसे जाते हैं कच्छपियों के मन में आता है कि हम इनसे जाते हैं गोलियों के मन में आता है कि हम इनसे जाते हैं क्यों तो वो परम सौंदर्य के निर्माण है और उनको उनसे जो चाहे सो सब मिल सकता है ये जो आदिदैविक शक्ति को न मानने वाले वेदांती हैं वो तो अंग्रेज पुराने वेदांति को तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीज मानता है वर्षो आपने बताया कि भगवान नाम लेते चलो रास्ते में भी लोग ढोंग कहे तो सह लो इस पर एक प्रश्न हमारे अंदर बहुत समझे हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में एक नियम निष्ठा है अस्पताल में बाजार में कहीं भी होंगे पर जो नमाजी हैं वह नमाज पढ़ने के समय नमाज के लिए बैठ जाएंगे देख कर ना लोग देख कर ना ढोंग लगता है ना अटपटा किंतु सनातन वैदिक धर्म में ये कमी देखकर दुख होता है जबकि सनातन वैदिक धर्म विश्व के सभी धर्मों का जनक है कृपया इसका कारण बताएं और दूर करने का उपाय भी बढ़े लक्षित इसका कारण तो ये है कि नास्तिकता बढ़ गई है लोग ईश्वर को मानते नहीं है ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव नहीं है और इसको दूर करने का जो उपाय है वो आप स्वयं इसके लिए प्रयास कीजिए हम भी आपका साथ देंगे पर आप इसके लिए उत्साह के साथ दो मिलिए पांच मिलिए दस मिलिए और गांव के गांव में जाइए और इसके लिए प्रयास कीजिए कि लोग खूब संध्या वंदन करें और लोगों से करना में कहो कि हमारी शक्ति के बाहर है तो ये हमारी शक्ति के बाहर कलयुग का समय है लोग बदलने हो रहे हैं ईश्वर पर धर्म पर विश्वास कम होता जा रहा है इसलिए आप स्वयं इसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं आप लोग संज्ञा वंदन करें इसके लिए कितनी कोशिश करते हैं यदि आप स्वयं नहीं करते हैं तो दूसरे करें ये आशा नहीं कर सकते और यदि आप दूसरों से आशा रखते हैं जीवित करें तो आप स्वयं करिए दूसरे दिन उनके पुत्र भी उठ खड़े हो गए और आधा घंटा की सुविधा निकल गई और पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने अपने लड़कों से पूछा कि हमको तो आज कश्मीर जाना था बहुत जरूरी काम था इसलिए छोड़ दिया कुछ लोगों को ऐसा क्या जरूरी काम था तो उन्होंने बताया यह हमारे कचहरी का काम था कोई कोई कोई आया हुआ था कचहरी से हमारे लिए बुलावा इसलिए समय पर उनको परमिशन तो घर के लोग अगर कायदे का पालन करते हैं नियम का पालन करते हैं तो सब लोग करते हैं और जब घर के लोग लोग ही नियम का पालन नहीं करते हैं तो दूसरे लोग तो कहां से करेंगे इसलिए अपने को नियम में पक्का रखोगे तो तुम्हारी रेखा देखी पास पड़ोस के लोग भी करने लगेंगे और संज्ञा बंधन का सब जगह से हट कर दृढ़ कर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सुविधा मन के काम कुछ आपके कथानुसार तो ऐसा रहा है कि उज्ज्वल एनवायरमेंट में मुसलमान में ज्यादा स्थित हैं आस्तिकता दूसरी चीज है और फिर दूसरी चीज आस्तिक तो दिन भर में पांच दफे या कुछ इससे ज्यादा कम और ईसाई लोग हफ्ते में एक तरफे करते हैं परंतु हिंदुओं का जो संज्ञा मतलब है वो वो तो दिन भर करने का चाहे जब उसको कर सकते हैं इसलिए खूब हृदय से खूब प्रेम से हृदय से दोनों समय संध्या वंदन करना चाहिए और ठीक हो तो उसको तो पूछ नहीं सकते आध्यात्मिक साधना में स्वाध्याय का स्वरूप एक जिज्ञासु के लिए क्या होना चाहिए देखो स्वाध्याय जो है ये धर्म का अंग है और पूजा पाठ ये उपासना का अंग है तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं इसके लिए हम लोग भगवान की उपासना पूजा करते हैं और दूसरे मजहबों में धर्म है भक्ति जो जैसी अपने में हैं भगवान की भक्ति वो तो बहुत कम होती है होती तो है पर बहुत कम होती है भक्ति के भगवान के लिए दिन रात नाम करते रहना या भगवान के लिए ध्यान करते रहता रहना भजन करते रहना ये आज कहाँ है भगवान की भक्ति करना दूसरी बात है भगवान के लिए कायदे से भक्ति करना ये दूसरी चीज है वेद पढ़ो ये स्वाध्याय और भक्ति का अध्ययन है भक्ति का आप भक्ति के ग्रंथ भागवत का पाठ करके अपने हृदय में भक्ति बढ़ाना चाहते हैं कि केवल पाठ पाठ करना चाहते केवल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुगुत्सव चाहते हैं कि बड़े प्रेम से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युगुत्सव एक एक शब्द का समझते हैं और इसको बड़े प्रेम से करना चाहते हैं आप खूब प्रेम से प्रेम से कीजिए ये दिखाऊ काम नहीं है ये हृदय से निकलने वाला बड़ा सात्विक बल्कि भक्ति तो सत्गुण से भी ऊपर उठ जाती है सत्गुण तो बहुत नीचे की चीज है भक्ति तो भगवान के चरणों में पहुंचाने वाली वस्तु है इसलिए आप भगवत प्राप्ति की कोशिश करेंगे तब तो भक्त होंगे और धर्म करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा और आप कर्म कांड करेंगे आपका परलोक बनेगा लोक बनेगा स्वर्ग बनेगा लोक परलोक स्वर्ग बनाने के लिए तो धर्म और भगवत प्राप्ति और भगवत प्रीति की प्राप्ति के लिए भगवान का भक्ति आप देख लो भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हो सारी बात में करना कि लोक परलोक स्वर्ग ब्रह्मलोक भी ब्रह्मलोक भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए है भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है श्रद्धा के साथ प्रवृत्ति होगी जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी भगवान का स्वात्म के रूप में अनुभव कर अपने जीवन को कृतकृत्यता का अनुभव होगा किंतु न तो ईश्वर अपनी कोई प्रगति देखकर तथा जिस किसी भी काम करने की चेष्टा उसमें निराशा तथा अपने को भी अपने प्रति उदासीनता देखकर मन हार गया है उत्साहीनता हो गया है एक नैराश्यता जीवन में छा गई है कृपया उद्बोधन देने का अनुग्रह करें इसका उद्बोधन ये है कि आप पहले दृढ़ नियम धारण कीजिए लिए जितना जब कर हैं में कर लेंगे तब खाएंगे संध्या बंधन किए बिना पानी भी नहीं पीएंगे और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन भोजन नहीं करेंगे कोई कड़ा नियम अपने जीवन में बनाइए तो वो कड़ा जीवन आपसे नियम पाते देखने में सृष्टि का अत्यंत अत्यंतभाव की निसंकल्पता है तो निसंकल्प होकर बैठ जाने से आपका क्या तात्पर्य है स्पष्ट करने की कृपा कीजिए सृष्टि नाम की कोई चीज है अपने से अतिरिक्त अपने से अलावा चीज है ये कल्पना मन में न है ये कोई बहुत हल्की फुल्की बात मामूली नहीं है इसके लिए दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है वासना पर प्रयुक्त करना वासना का परित्याग करना पड़ता है तो नियम से यम से रहना पड़ता है अपने जीवन को कायदे से नियम से चलना पड़ता है ये जो बड़े बड़े बाबा जी लोगों का जीवन हम पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं है कि उसको घास फूस की तरह कर में खा जाए उसके लिए बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है बहुत बड़ा परिश्रम वैराग्य से ये उपासना का परित्याग से सदगुरु की संगति भी चाहिए एक एक एक एक बात में सावधानी चाहिए इसमें कहीं कोई गलती न हो जाए कल आपने शरीर को ढेले की उपमा दी ढेला सूखता है सिकुड़ता है गीला होता है तो तकलीफ होती है शरीर तो जड़ है जिसमें वास करने वाला आत्मानंद स्वरूप है तो तकलीफ किसे होती है जड़ को अचेतन को तकलीफ तो हो नहीं सकती और आत्मा को तो है ही नहीं कृपया तकलीफ से छूटने का उपाय बताइए तकलीफ तो जड़ को ही होती है तकलीफ चेतन को नहीं होती